जैसे आदमी मति करता है ऐसे गति को पाता है मैं दुखी हूं दुखी हूं ऐसा एक चौबीस घंटे कोई विचार करे तो दुख के दरिया में डूब जाता है मैं बीमार हूं बीमार हूं ऐसा भाव करे मेरा कोई नहीं मैं बीमार हूं तो वैसे ही हो जाता है मैं बंधन में हूँ बंधन में हूँ बंधन में हूँ ऐसा चिंतन करे चौबीस घंटा तो पाएगा कह रहे बड़ी परेशानी और मैं मुक्त हूँ इस प्रकार का भाव यदि दृढ़ कर दे तो मुक्त है बंधन के भाव वाला बंध है मुक्त के भाव वाला मुक्त है ईसा के भाव वाला ईसा है मोहम्मद के भाव वाला मोहम्मद का भक्त है हिंदुत्व के भाव वाला हिंदू है पारसी के भाव वाला पारसी है सब भाव ही तो है सारा विश्व भावना मात्र है उसमें ठोस नहीं है कोई सत्य है ऐसी बात नहीं उसी परमात्मा की सत्ता से जो वृत्ति पूर्ति है और जैसा जैसी कल्पना होती है ऐसा सत्य हो वास्ता है तो परमात्मा जो है शुद्ध है और उस शुद्ध परमात्मा में जो कलना हुई उस कलना से ही जगत भाजता है शुभ अशुभ सत्य असत्य ये कलना को जो मोड़ देता है वो साक्षात्कार कर लेता है कलना को जो देख लेता है कलना माना क्या पूर्णा भावना अब जब दुख आता है तो समझ लो कि दुख की भावना आई है दुख तो कहीं है नहीं दुख की भावना है दुख कितना ही पड़े और तुम्हारा भाव नहीं उठता तो दुख नहीं डाले अस्पताल में कितने ही लोग मरीज मर रहे हैं सड़ रहे हैं गल रहे हैं चीख रहे हैं लेकिन उन मरीजों में तुम्हारा भाव नहीं है अपना तो ममता नहीं है तो कुछ नहीं और जिसमें तुम्हारी ममता होती है शत्रु में वैर होता है तो शत्रु जब बीमार पड़ता है कटता है कटता है ऑपरेशन होते हैं आदि फैल होता है तो आपको आपकी चेतना में सुख का भाव पैदा हो जाता है हर उसमें बोले अगर मित्र को सुख मिलता है तो आपके अंदर सुख का भाव पैदा होता है तो जगत भावना मात्र है वेदांत पर वेदांत बुद्धि वेदांत सुनकर मनन करना चाहिए नहीं तो रोते ही रहेंगे चाहे कितना भी ध्यान हो जाए जब तक वेदांत का मनन नहीं होता आत्मज्ञान का मनन नहीं होता इस परमात्मा चेतना की कलना का रहस्य आदमी नहीं समझता उस रहस्य में टिकता नहीं तब तक ये कलनाओं के चक्कर में मारा मारा फिरता है और ये कलनाएं मोह से राग से अविद्या से अविद्या सारे दुखों का अनर्थ है अविद्या जो विद्यमान है उस परमात्मा को न देखने दे और अविद्यमान में कलना पैदा हो जाए इसका नाम अविद्या जरा ऊंची लेवल का है थोड़ा ये समझे बिना परम शांति के द्वार नहीं खुलते तो जगत पूर्णा मात्र है और जैसा जैसा पूर्णा करते हैं ऐसा सत्य भाजता है लीलावती का पति फुरना कर रहा है युद्ध होने का और उसका शत्रु और उनकी युद्ध हुई युद्ध हुई तो शत्रु का दृढ़ निश्चय था कि मैं जीतू और मुझे राज्य मिले पृथ्वी का लीलावती का पुरुष पति का विचार था ठीक है जीत लेंगे नहीं तो भगवान के पास जाएंगे तो उसके संकल्प में उसके पुण्य में थोड़ी दृढ़ता कम थी तो जिसके संकल्प में दृढ़ता कम थी वो हार गया और जिसमें दृढ़ता ज्यादा थी वो जीत गए लीलावती रोई और सरस्वती देवी प्रकट हुई उपास्य देवी देवी को पूछा कि मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ फिर भी मेरा पति क्यों चला कि उसकी भावना ऐसी थी शत्रु की अपेक्षा उसकी भावना यहाँ रहने की कम थी शत्रु की ज्यादा थी तो शत्रु जीत गया और उसकी भावना लोकांतर में जाने के थे मैं वहां जाऊंगा ईश्वर के पास जाऊंगा हार गया तो ईश्वर के पास जाऊंगा वहां भी मेरे को सुख मिलेगा तो अब देख मैं तेरे पति को देखा था तो लीलावती का अंतवाहक शरीर लेकर सरस्वती आकाश में उड़ी और जहां उसका पति मरकर अपने भावना के अनुसार वहां भी वो देख रहा था जैसे आप सपने में भावना के अनुसार राज्य देखते हैं वजीर देखते हैं तख्त देखते हैं गादी नशीन अपने को देखते हैं जैसे सपने में ऐसे ही लोकांतर में उसका पति भावना के बल से देख रहा था अब लीलावती कहती है कि ये क्या बात है मेरा पति इधर कैसे और ये सब वजीर और उनके इधर उधर के जय घोष करने वाले बोले सारा जगत भावना मात्र है उस चेतन परमात्मा ने जैसे जैसे आदमी भावना करता मरने के बाद भी ऐसे ही दिखता है एक माई जा रही थी मस्त फकीर थी ब्रह्म ज्ञानी थी माई एक हाथ में उसे पानी था दूसरे हाथ में आग थी पंडितों ने पूछा मुल्ला मौलवियों ने कहा जाती है उसने कहा कि मैं जाती हूं तुम्हारे स्वर्ग को आग लगाने तुम्हारे विस्त को आग लगाने जाती हूँ और तुम्हारे दोजक को जरा पानी छाट के ठंडा बनाने जाती हूँ विस्त को आग लगाने जाते और दोजक को शीतल करने जाते मतलब वो फकीर मस्त फकीर थे कि तुम्हारा भावना में ही विस्त है और भावना में ही दोजक है तो इन दोनों को जो दोजक की भावना है दुख की भावना है उसको पानी डालकर हटाती हूँ और जिसमें सुख की भावना है उसको आग लगा के पूरा कर देती हूँ भावनाओं से हम भ्रमित हो रहे थे मैं स्वर्ग में जाऊं फिल्म में भी तो भावना होती है तब मजा आता है हा हा हा हाँ। हाँ हाँ हाँ हाँ भाव नहीं होती तभी मजा आता है दुराचार में भी जब कुभाव होता है तब मजा आता है सदाचार में स्वभाव होता है तब मजा आता है और मौन में भी एकांत में भी जब समझ का भाव होता है तो एकांत में मजा आता है पापी आदमी को मजा नहीं आएगा ना समझ आदमी को मौन में मजा नहीं आएगा तो मौन ऐसे मन शरीर से तो चुप रहेगा फिर भी मन से तो चलता रहेगा तो मन के चलन को जो देखता है उसका मन रुक जाता है भोला बाबा कहते हैं मन मार देता धीर सो भवबंध से छुट जाए जो मन को मार देता है मन के कल्पनाओं को संकल्पों को हटा देता है संकल्पों को देख के संकल्पों से अपना पिंड छुड़ा देता है वो तर जाता है बाकी तो कोई ईसा की भावना से ईसा का भगत है कोई राम की भावना से राम का भगत है कोई देवी की भावना से देवी का भगत है कोई झूलेलाल की भावना से झूलेलाल का भगत है कोई विषयों की भावना से विषयों का भगत है तो विषयों का भगत विषय होता है पामरों का भगत पामर होता है देवताओं का भगत देवताओं तक तो जाता है भगवान की आकृति वाला भगवत भगत भगवान की आकृति जैसे उसमें जाते हैं लोकांतर में लेकिन जो भगवान की असलियत को जानता है वो भगवान की असलियत में समा जाता है पहले जिस प्रकार का आपको ज्ञान होता है जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार आप पहुंच जाते हैं भावना हुई मोटेराने से तो कहा अपना वो महसाणे से दूर गांव कहा इधर महसाण तो कलना जब संसार में होती है तो हम संसार में जब दुख में होती है तो हम दुख में होते हैं कलना जब रोग में होती है तो हम रोगी होते हैं शरीर को रोग है और तुम्हारी कलना कुछ अच्छा चिंतन कर रही है तो आपको रोग का दुख नहीं होगा राजेंद्र बाबू को फोड़ा हो गया था राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू तो नस्तर रखने के लिए डॉक्टर आया उन्होंने कहा कुछ इंजेक्शन मारे आप ऐसा क्लोरोफॉर्म का कुछ उपयोग करें शरीर पर आपको पैन होगा नहीं तो राजेंद्र बाबू ने कहा ठीक है ऑपरेशन करना है करो ऑपरेशन करने की तो मना नहीं है लेकिन ऐसा है कि ठहरो जरा मैं गीता पढ़ता हूँ दो पांच मिनट छोड़ देना मैं गीता पढ़ता हूँ गीता में पढ़ते पढ़ते मैं अपनी भावना गीता के ज्ञान में स्थित कर दूंगा और तुम अपना ऑपरेशन कर लेना तो राजेंद्र बाबू ने गीता पढ़ी और ऑपरेशन करने वाले ने जो नस्तर रखना था छोटा सा ऑपरेशन करना था कर दिया जब गीता रखी तो बोला बहुत दर्द होता है पूछा कि इतनी देर आपको जब चक्कू घूम रहा था दर्द नहीं हुआ बोले उस वक्त मेरी कलना भावना उधर ज्यादा थी इधर कम थी होता तो था लेकिन इधर गौण वृत्ति थी और वहां गीता में मुख्य वृत्ति थी अब गीता छूट गई तो दोनों वृत्ति यहाँ आ गई ऐसे ही जो ब्रह्मवेता महापुरुष हैं तो वे जगत में जब होते हैं जगत के व्यवहार में जब उनकी कलना होती है तो जैसे हम लोग हैं ऐसे ही वे लगते हैं खाते हैं रोते हैं राग द्वेष खिंचाव तनाव मेरा तेरा ये वो सब हम हम में और उनमें तनिक भी फेर नहीं लगता क्योंकि हम वही जीते हैं वो भी वहां जीते वो दिखते हैं लेकिन उनकी जो कलना है उनकी जो भावना है वो बाधित हुई है उनका सारा जो व्यवहार है ना भुने हुए बीज की तरह है इसलिए उन्होंने जब तत्व साक्षात्कार किया तो पूरी अविद्या अपने कार्यों सहित बाधित हो गई पूरी अविद्या जब कार्यों सहित बाधित हो जाती है तो फिर अविद्या के कार्य हम जैसे ही वे करते हुए नजर आते हैं हो सकता है कि हम देखें तो उनमें आरोप भी करें कि हमारा मन एमना मशहूर है हमारा एमना करता हमें थोड़ा हारा चाहिए ऐसा भी लगे जैसे घाट वाले बाबा हैं तो खान पान में थोड़ा अशुद्धि दिखती है तो लगता है साधक को कह रहे ठीक है बाबा जी तो ज्ञानी तो है लेकिन इनसे तो वो फलाना वो फलाना महाराज जो है बड़े अच्छे पवित्र रहते ऐसा ठीक लेकिन उनके लिए सारा जगत बाधित हो जाता है सारा जगत अविद्या का कार्य हो जाता है तो अविद्या का कार्य होने के नाते उनकी गौण वृत्ति और मुख्य वृत्ति दोनों वृत्ति अध्यारोपित दिखती है अध्यारोप समझता है ना अध्यारोप का मतलब है कि जैसे है तो भाई रस्सी एक ने कहा कि सांप है दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं सांप नहीं है ये तो दरार है तीसरे ने कहा दरार कैसे हो सकती है तो पानी का लीटा है चौथे ने कहा लीटा भी नहीं है सांप भी नहीं है ये डांग है पांच महीने का डांग वांग नहीं मरा हुआ सांप है तो ये सब उसमें अध्यारोप कर रहे हैं अध्यारोप उन लोगों का इतना ठोस है रसी वाले को रसी भाजती है सांप वाले को सांप भाजता है दरार वाले को दरार भाजता है सबको अपने अपने तर्क ठीक लगते हैं लेकिन जिसको असलियत पांच भूत देखते हैं वो समझता कि ठीक है जो तुम जैसे भावना करते ठीक है बराबर है तू भी सही है तू भी सही है तू भी सही है तू भी सही है लेकिन सही होने की तुम्हारी कल्पना है जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो यथारथ हो जैसी जैसी भावना होती जैसी जैसी कलना होती अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्त अभिमानी मुक्तो हो मुक्त अभिमानी जो है मैं मुक्त हूँ चैतन्य हूँ ऐसा जो भाव करते हैं ऐसी जो कलना पक्की होती तो मुक्ति का अनुभव करते हैं और मुझे ये नहीं मिला मैं दुखी हूँ तो वो दुखी हो अब मैं हिंदू हूँ तो हिंदू भाषता है मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान भाषता है इस अंतर्यामी आत्मदेव का ऐसा चमत्कार है कि जैसा जैसा भाव करो जैसे जैसे वातावरण में रहो जैसी जैसी कलना क्रिएट करो ऐसा हो भाजता है हार तो नहीं जाऊंगा हार तो नहीं जाऊंगा तो हार जाएंगे ये नहीं है कि ज्यादा लोग जीते हैं जीत सकते हैं ज्यादा लोग जो होते हैं वो जीतते हैं ऐसी बात नहीं है कम संख्या के लोग हारते हैं ऐसी बात नहीं है कलना किसकी ज्यादा है दृढ़ता किसकी ज्यादा है जिनकी दृढ़ता ज्यादा है वो जीतते हैं और जिनकी दृढ़ता कम है वो हारते हैं सिकंदर के पास एक टैक्ट थी जर्मनी के सड़कों पर लोग घूम रहे हैं अपने आदमियों को भेजा के देखो जवान कैसे घूम रहे हैं इनकी रीढ़ की हड्डी जरा कड़ी है कि झुकी है झुके हुए चलते हैं या मर्दानगी से चलते हैं सर्वे करो आदमी ने सर्वे किया बोले आदमी थोड़े झुके हुए थे तो बोले इनके जीतना सरल है क्योंकि उनके कलना उनका भाव दबा हुआ भाव है आप काम नहीं आपड़ू गजू नहीं God help do help them परमात्मा उसे मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है हिम्मत बंदे मददे खुदा बेहिम्मत बंदो बेजार खुदा कहावत है तो ऐसा नहीं है कि तुम बेहमत होते हो और वहीं कोई आकाश पाताल में कोई खुदा नाराज हो जाता है और फिर आदमी को भेजता कि इसको हरा दो तुम हिम्मत करते हो तो कोई आकाश का खुदा राजी हो जाता है और अपने गुप्तचर भेज देता है और तुम्हें मदद करता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं तुम्हारे भाव ही तुम्हें मदद करते हैं और तुम्हारे भाव ही तुम्हें गिरा देते हैं कोई आकाशचारी आकर तुम्हें उठाता नहीं और कोई गिराता नहीं वेदांत को समझो तो जीने में इतना मजा आता है जीतने में इतना मजा आता है हारने में इतना मजा आता है महाराज क्या कहा जाए एक अलमस्त वेता फकीर घूम रहे थे जंगल में अपनी निजानंद की मस्ती में बोकोजू उसका नाम जू को अटक करते थे जू को आठ आदमियों ने देखा जिनका धंधा था जंगल में से आदमी पकड़ के ले जाना और गुलाम करके उसको बेच देना मनुष्य हरण अपहरण करते थे बोको जी को देख के वो डर गए कुजी ने कहा क्या बात है मैं स्वयं निर्भय हूं मेरे को देखकर भयभीत होने की क्या जरूरत है आइए आइए क्या काम है कैसे आना हुआ इधर मेरे तरफ आ रहे थे मेरी नजर पड़ते ही आप पीछे आ गए क्या बात है आइए उन्होंने कहा आ नहीं सकते हिम्मत नहीं होती हमसे तुम्हारे से डर लगता है बोले तुम आठ हो मैं एक हूं मेरे पास हथियार भी नहीं है क्यों डर रहे डर लग रहा है क्या बस तुम मारोगे तो नहीं बोले मारेंगे नहीं आए आए ना हम मारते हैं ना मार खाते हैं बताओ आओ क्या बात है आए कुछ दिन पूछा कैसे है क्या धंधा है क्या करते हो क्यों आए बोले धंधा हम क्या बताएं हम आदमी पकड़ते हैं और उसको गुलाम करके बेचते हैं और हमारा इरादा था कि तुम्हें पकड़े लेकिन तुमको देखकर हिम्मत नहीं होती तुम्हारे नजीक आने की अब वो आठ आदमी हैं और गुंडे हैं उनका स्वभाव है मनुष्य पकड़ना अपहरण करना लेकिन बोकू जी एक ऐसी सत्यता पर खड़े हैं जहां उनकी वृत्ति बुठी हो जाती बहुसंख्या से यदि होता तो उनके पास हथियार है आठ आदमी है और वो जो अकेले हैं बहुसंख्या सफलता का चिन्ह नहीं है दृढ़ता सफलता का चिन्ह है एक आदमी यदि अपने स्वरूप में टिक जाए अच्छी तरह से और वो अड़ जाए कुछ करने को एक ही आदमी केवल एक आदमी दो चार नहीं उसकी पार्टी के आदमी नहीं दस बीस नहीं एक ही व्यक्ति केवल एक व्यक्ति और जिसको सब लोग तिरस्कृत करते हैं कोई उसको सहाय नहीं देता ऐसा एक व्यक्ति यदि डट जाए अपने स्वरूप में तो समस्त ब्रह्मांड उसकी सहाय करने को बाध्य हो जाए सारे दुनिया के लोग उसके पक्ष में होने को बाध्य हो जाएंगे पहले हिलाएंगे अब हिला नहीं तो मैं डट जाने को कहता हूं हिला नहीं तो सारा संसार उसको सहाय करने को बाध्य है भोग में न हिला स्त्री में न हिला धन में न हिला और अपने असूल पर अडिग रहा तो दुनिया उसके हा में हा मिलाने को बाध्य होगी ही लाचार होकर उनको सहयोग देना पड़ेगा कथा आती है पंचदशी में पानी के जलाशयों के किनारे पक्षियां घूमे करते आप कहे टिटोरी होते तो, तो तो तो तो तो होते तीती होते तीती तीती तीती कर कर घूम कबर નું આંગણું હ गुजराती में टिटोड़ी કહે सिंधी में લાય છાતના रहते थे समुद्र किनारे उनके बच्चे आने फूटने के थे अंडे टिटोरे ने कहा चलो अपने दूर आज निकल चलते हैं टिटोरी ने बोला हमारे बच्चे को क्या होगा ये समुद्र तो तूफाने चढ़ता है और उसको तो पता भी नहीं कि हमारे बच्चे कैसे घसीट ले जाए तो ये बड़ा लुच्चा है ठिटोरा बोलता कि पगली मेरे होते हुए और अपने बच्चे वो ले जाए समुद्र और अपने बच्चे ले जाए तो क्या नादानी की बात कहती है बोले आप क्या ये तो इतना बड़ा विश्वास इतना विश्वास बोले खबरदार चलो कथा कहती है कि समुद्र का अभिमानी देव जो है हंस रहा है कि ये डिटोर है मेरे सामने टक्कर लेने की हिम्मत करता है जानबूझ के उसके अंडे छुपा दिए लौट के आए पति पत्नी टिटोरी रोई हाय हाय हाय हाय मेरा तो विनाश हो गया सब चला गया बोले रोने से क्या होता है हाय हाय करने से क्या होता है उसने ले लिया ना बच्चे अपने अब मैं उसको खाली कर देता हूँ समुद्र को बच्चे ले लूंगा तो क्या डरती तिनखा उठाया और बड़ा समुद्र में से ऐसे चौंच में कैसे उठाया खारा पानी तो तिनखे में समुद्र का पानी थोड़ा उठाया और दूर फेंक के आया दो चार बार किया पत्नी कहती कि ऐसे भी कोई समुद्र सूख सकता है आप क्या कर रहे हैं बोले तो मेरे संकल्प में आड़ मत दे तो यदि मेरी अर्धांगनी है तो मेरा सहयोग कर नहीं तो दूर भाग मेरे को दो चार बार उलटा पत्नी चालू हो गई पक्षी आए घूमे मजाक किया कि क्या करते पागल कहाँ समुद्र कहाँ तुम जरा समझ के तो करो अकलमंदी तो करो बोले अकलमंदी यही है कि अपने संकल्प करो नहीं और करो तो फिर हटो नहीं यही अकलमंदी है दूसरी कोई अकलमंदी नहीं है चालू हो गए पक्षी समझाने वाले उनको समझाता है कि तुम सहयोग करो तो ठीक है नहीं तो फिर मेरा उत्साह क्यों तोड़ते हो पक्षी लग गए दस बीस दस बीस लग गए तो फिर स्वाभाविक उत्साह के लिए दो पांच और भी लग गए तो जो पक्षी गुजरते थे लगते गए कथा कहती है आखिर में देव ऋषि वहां से निकले देखा कि हजारों पक्षी बस समुद्र से चौचे भर भर के उलेट रहे समुद्र से भर भर के उलेट रहे देव ऋषि नारद ने देखा कि बात क्या है यहाँ का मुख्य कौन है तुम्हारा कार्यकर्ता बोले कार्यकर्ता मुख्य वो है नारद ने कहा क्या बात है बोले ऐसे मेरे बच्चे इसने ले लिए पहले तो पत्नी इनकार कर रही थी पत्नी लगी फिर दूसरे इतने हजारों आदमी लगे हैं हजारों पक्षी हमारे लगे हैं समुद्र को खाली करके छोड़ेंगे नारद ने जरा बजाया कि भाई तुम जरा समझो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और आप क्या करते हैं तुम्हारी चौचों से कभी समुद्र खाली हुआ जाने दो तुम कहा और वो कहा टिटोरा बोलता कि तुम संत होकर देव ऋषि होकर हमारा उत्साह भंग करते संत होकर हमें पिंगला बनाते तुम्हारा तो दर्शन करके लोग निरुत्साही लोग उत्साहित हो जाते हैं ना मर्दों में मर्दानगी आती है और मर्द परम मर्द हो जाते हैं और आप हमें नामर्दी भर रहे हैं गुरु जी क्षमा करें ऐसा कौन सा मेरा पाप उदय हुआ कि आप हम में नामर्दी भरते हैं नारद ने कहा नारायण नारायण में नामर्दी नहीं भर रहा था कितनी मर्दानगी छुपी है वो जरा टकोरा बजा रहा था यार समुद्र खाली क्यों नहीं होगा समुद्र को मत चढ़ा है और जिसको मत चढ़ता है उसका तो मत टूटता ही प्रकृति का नियम है और तुम्हारे द्वारा ही टूटेगा और इनके जो साथी थे उनको बोलने लगे शाबाश है लगे रहो क्यों नहीं देगा बच्चे देखे ही रहेगा मेरा आशीर्वाद नारद चले घूमते घामते वैंकुट पहुंच गए और पक्षियों के घर राजा गरुड़ तुम यहाँ वैंकुट में आराम कर रहे हो और तुम्हारी जाति के लोग बेचारे चौचे भर भर के थके जा रहे हैं तुम्हारे जाति के पक्षी सब परेशान है और तुम यहाँ आराम नींद ले रहे हो पक्षियों के सम्राट पक्षियों के राजा आज तुम्हारी पूरी तुम्हारी पक्षियों की पूरी यूनियन परेशान और आप इधर तुम्हारे होते हुए और समुद्र उनसे ऐसा बेवफाई करे गरुड़ ने कहा पता नहीं बोले फिर आपको तो पता ही नहीं आपको ख्याल रखना चाहिए गरुड़ को भर दिया प्राण गरुड़ बोलता है ऐसा समुद्र को मत चढ़ा है मेरे होते हुए समुद्र मेरे पक्षियों को परेशान करे मैं विष्णु का आदमी हूं गरुड़ के होते हुए हमारे पक्षियों का अपमान हो जाए how can be that thing राय घुमाए पांख आए कुपित होकर समुद्र देखता कि अब गरुड़ आ गया है अब तो काम गड़बड़ है गरुड़ की आराधना किया और बच्चे लाके रख दिए तब से आध्यात्मिक शास्त्रों में ये दृष्टांत लागू पड़ जाता कि जो साधक हैं जो ईश्वर के रास्ते चलते हैं उनको टिटोरे पक्षी का सामने दृष्टिकोण रखकर घर से कदम उठाने चाहिए कदम एक पहले रखे नहीं कायर आदमी तो ईश्वर के रास्ते चले नहीं और जब एक कदम रख दिया तो पीछे हटे क्यों हमें हटा सके ये जमाने में दम नहीं हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं जमाना जड़ है हम चेतन है जमाना परिवर्तनशील है और हमारा आत्मा शाश्वत है शाश्वत के नाद के साथ परिवर्तन को अपना परिवर्तन करना ही पड़ेगा nothing is impossible everything is possible નહીં થાય આપણું કામ નહીં આપણું ગજુ નહીં એ તો બાયલા વેળા જેના ચિત્તમાં હોય એ પોતાના ચિત્તની વૃત્તિઓ પોતે જ કાપતો છે संकल्प विकल्प एक संकल्प करे और दूसरे संकल्प से उसको काट देता है हम करीशू नहीं था તો શક્તિ હણાઈ ગઈ આપણી ऐसी बद्ध का जो अपने को बंधन में मानता है वो बद्ध है जो अपने को मुक्त मानता है मुक्त है जो अपने को हिंदू मानता है हिंदू है वो मुसलमान मानता है मुसलमान और यही कारण है कि मरने के बाद हिंदू को स्वर्ग दिखता है मुसलमान को बिस्त <clears throat> दिखता है हिंदू को नरक दिखता है और मुसलमान को दोजक दिखता है हिंदू को अप्सराएं दिखती है और मुसलमान को हूरे दिखती है तो जैसी जैसी इस चित्त संवित होती है जैसा जैसा चित्त में इस आत्मदेव की सत्ता से पूर्णा दृढ़ होता है ऐसा ऐसा जगत जगत कैसा है डोंट से अबाउट इट इसके लिए कुछ मत कहो जगत कैसा है कुछ मत कहो देखने वाले का किस समय कैसा पूर्णा है जगत ऐसा है किसी ने भूत के दर्शन किए हैं किसी ने रात को भूत देखा है तो उसको झूठा मत मानो क्योंकि उसने कल्पनाओं से सुना है और उसका मन <clears throat> उसकी वृत्तियां नियंत्रण छोड़कर बुद्ध की आकृति ले बैठी है <clears throat> किसी ने रात को ईसा के दर्शन किए हैं ईसा मर गए और बाद में उसको ईसा मिले हैं तो सही कह रहा है जो मर गए ईसा वो तो नहीं आया लेकिन इसके मन में जो ईसा बैठ गया वो नियंत्रण खोलकर रात को खड़ा हो गया किसी को कृष्ण दिख रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहा है कृष्ण जो बंसीधर थे जो मूर्ति दिखती है वो मूर्ति तो अमूर्त में खो गई लेकिन तुमने मूर्ति देख देख कर इस आत्मदेव की सत्ता से चित्त में मूर्ति फिट कर दी तुमको वो कृष्ण मूर्ति मन मुस्कुराता हुआ गुनगुनाता हुआ गीत गाता हुआ नजदीक आता हुआ दिखेगा मीरा को मीरा की कल्पना जब दृढ़ीभूत होती थी तो कृष्ण मुस्कुराते हुए नजदीक आते थे और कल्पना जब विच्छेद हो जाती थी कुटुंबियों के कारण या वातावरण के कारण या कल्पना एक जैसी रहती भी नहीं तो कल्पना जब खो जाती तो कृष्ण अदृश्य हो जाते फिर मीरा रोती दर्शन दो घन श्याम नाथ में दर्शन की प्यासी अब दर्शन देने को वो आया नहीं था और दर्शन से हट भी नहीं गया तो उसकी चित्त वृत्ति जब दृढ़ीभूत हुई तो कृष्ण का रूप लेकर आ रहे आ रहे आ रहे तो आते हुए देखे चले तो ना जाएंगे वो चले गए भागवत में प्रसंग आता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि अधरा अमृत का दान करो प्रभु धरती इति धरा जो पृथ्वी का सुख है वो धरा अमृत है जो पृथ्वी पर न मिल सके पृथ्वी के पदार्थों से विषयों से जो न सुख मिल सके वो है अमृत पांच तत्वों के सिवाय पंच भौतिक पदार्थों के सहयोग के सिवाय जो सुख है वो निर्विषय सुख है अन आर्टिफिशियल सुख है आर्टिफिशियल सुख तो रानियां लेती है लेकिन हमें प्रभु ये आर्टिफिशियल सुख नहीं चाहिए हमें अधरा अमृत का दान करो श्री कृष्ण ने बंसी बजाई बंसी के नाद से उनकी चित्त की वृत्तियां जो फैली हुई थी वो एकाग्र हो गई अब एकाकार हो गए तो आनंद आने लगा आनंद आने लगा किससे आने लगा बंसी से नहीं बंसी एक माध्यम बनी बिखरी हुई तुम्हारी संवित बिखरी हुई तुम्हारी वृत्तियां तदाकार हुई और कृष्ण में श्रद्धा थी भाव था जहाँ श्रद्धा और भाव होता है वहां तदाकर वृत्तियां जल्दी होती इसीलिए आध्यात्मिक जगत में शर्त रखनी जाए पड़ती है कि श्रद्धा है कि नहीं कितना समझदार हो कितना विद्वान हो कितना अकलबंद हो और श्रद्धा नहीं है तो उसमें आनंद की वृत्ति उठेगी नहीं बुद्धू है अकल नहीं है और श्रद्धा है तो आनंद ले लेगा मजा ले लेगा बुद्धू नहीं है अकलमंद भी और श्रद्धा भी है तो समझो उसने तो बस नैया उसकी किनारे लग सकती इसलिए गीता का कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया श्रद्धालु भी हो और इंद्रियों को संयत करने की कला अटकल हो ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा जिसके पास श्रद्धा नहीं है और सब कुछ है श्रद्धा एक ऐसा सदगुण है कि हजार हजार दुर्गुणों को ढक देता है और अश्रद्धा एक ऐसा दुर्गुण है कि हजार हजार सदगुणों को ढक देता है इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान हैं बड़े बड़े समझदार हैं वे लोग भीतर से बड़े परेशान हैं अशांत हैं और जो ना समझ है वे भी अशांत हैं दुखी हैं जिनके पास श्रद्धा है वे समझदार हैं तभी भी मजे में और न समझ है तो भी मजे में है श्रद्धालु लोग बड़े मजे में देख गए तो श्रद्धा एक ऐसी वृत्ति है जो तुम्हारी और वृत्तियों को काटने में बड़ा काम देती है कि हसे हुए कृष्ण बजा रहे बंसी आहा आहा आहा आहा मैं तारू मारू एनु तेनु બધું ભૂલાઈ ગયું कृष्ण बंसी बजा रहे और हम सुनेंगे और फिर वहां पहुंचेंगे कृष्ण के साथ रास करने का मौका मिलेगा आहा जिन ग्वाल और गोपियों में श्रद्धा थी आहा थी उनको वो बंसी सुनाई पड़ी भागवत कहता है दूसरों को नहीं सुनाई पड़ी कृष्ण ने कहा जो मेरे प्यारे होंगे जो मेरे भक्त होंगे जिनको बंसी सुनाई पड़ेगी वो आ जाएगी तो जिनमें श्रद्धा थी उनके ही कानों ने बंसी का नाद सुना और जिनमें श्रद्धा नहीं थी उनको सुनाई नहीं पड़ा अर्थात तुम्हारी श्रद्धा है तो वृत्ति गहराई से तुम्हारी श्रद्धा होती है तुम्हारी प्रतिष्ठा में तुम्हारी इज्जत आबरू में और जब इज्जत आबरू के खिलाफ होता है तो वहां खिलाफ न हो इसलिए तुम्हारी वृत्ति बहुत जाती है जैसा तुम निंदा को याद रखते हो ऐसा यदि तुम सत्संग को याद रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा કહેવત છે કે હવે ધીમે ધીમે બોલો દિવાલો ને કોણ હોય છે दीवालों को भी कान होते हैं जरा किसी की बहुत बात ऊंची बिची करते हैं ना निंदा विंदा तो बोले आप आजकल जमाना ऐसा दीवालों को भी कान है दीवालों को कान है मतलब कोई जिसकी आप निंदा कर रहे जिसकी चर्चा कर रहे हो कोई ऐसा आदमी होगा कि वहां तक पहुंचा देगा और हर इंसान चाहता कि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी इज्जत बनी रहे अपने को गिराना अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को गिराना नहीं चाहता क्योंकि वो ऐसी जगह पर है वो ऐसा है कि कभी गिरा ही नहीं इसलिए वो शरीर की प्रतिष्ठा चाहता है शरीर की प्रतिष्ठा में गड़बड़ न पड़े उसकी खूब श्रद्धा है इस विषय में तो वो बात समझ लेता है सैकड़ों मील दूर आपकी कहीं निंदा होती और आप तक पहुंच जाती सैकड़ों मील दूर आपकी कहीं प्रशंसा होती और आप तक पहुंच जाती क्योंकि आपकी उन विषय में श्रद्धा है सैकड़ों मील दूर है तुम्हारा शत्रु उसको कोई हानि होती है तो तुम्हारे तक खुशियों की खबर पहुंच जाती है सैकड़ों मील तुम्हारा कोई मित्र है और उसे लाभ होता है तो खुशियों की खबर तुम्हारे तक पहुंच जाती है ये भी तो तुम्हारी चेतन की संबित है ये भी तो तुम्हारे भाव है तो गोपियों का जिनके जिन गोपियों को भाव था कृष्ण के प्रति और कृष्ण अमृत का पान कराएंगे कृष्ण हम हमारे सर्वस्व हैं ऐसा जो भाव था उनको शरद पूनम की रात को बंसी सुनाई पड़ी और वे पहुंच गई बंसी बजी और वो तदाकार हो गई इधर उधर की वृत्तियां चली गई और अनजाने में निजानंद में पहुंच गई वृत्ति का सुख है ये भी आनंदमय कोष का सुख है गुणातीत का सुख नहीं है गोपियों को सुख तो मिला आनंद तो मिला लेकिन अंदर में फिर दूसरी वृत्ति उठी कि हम कितनी भागशाली हैं अभाग इनको तो सुनाई नहीं पड़ा हमको सुनाई पड़ा अभाग इनको नहीं सुनाई पड़ा हमको सुनाई पड़ा जब हम कहने की वृत्ति उठी तो ये अन्नमय कोश में आ गई धड़ाक लेके अन्नमय कोश में आ गई फिर भागवत बड़ी सुंदर ढंग से कथा करता है भागवत कहता है कि गोपियां जब आ गई अन्नमय कोश में गोपियों के मन में जब आया कि श्री कृष्ण कि बंसी हम ही सुन पाए हम भागशाली हैं दूसरे ऐसे ही हैं तो श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए श्री कृष्ण चले गए ऐसा नहीं कहा श्री कृष्ण वैकुंठ चले गए ऐसा नहीं कहा भाग गए ऐसा नहीं कहा कृष्ण अंतर्धान हो गए और वो गोपियां फिर ताल से पूछती है वृक्षों से पूछती है कदम से पूछती है नीलम से पूछती है पौधों से पूछती है पेड़ों से पूछती है कि कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ कर्षति आकर्षति इति कृष्ण जो आनंद है ना एक बार झलक दे देता है ना तो फिर वृत्ति उधर भागती है वृत्ति माना गो माना इंद्रिया वही इंद्रिया तुम्हारी जो है अंतर की इंद्रिया उसी आनंद के तरफ भागती भागती भागती बाहर भागी लेकिन कहीं मिले नहीं एक जगह पर श्री कृष्ण की झांकी हुई किसको राधा को राधा दूसरी गोपी का नाम नहीं आता राधा को झांकी हुई राधा को कृष्ण मिले राधा को उल्टा करो तो धारा जो धारा तुम्हारी बाहर जा रही थी वो अनजाने में अंतर हो गई तो कृष्ण मिल गए कृष्ण तो मिले तो राधा के मन में हुआ कि देखो इतनी गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण को कृष्ण दिखाई नहीं पड़े मेरे को दिखाई पड़े कृष्ण समझ के फिर आ गई वो अन्नमय कोष में राधा बोलते कि मैं चल कर थक गई कृष्ण बोलता है परवा मत कर मैं तुझे कंधे उठा लेता हूँ कैसे चढ़ेगी जरा डाल को पकड़ कृष्ण ने ऊंचा करके डाल पकड़ा दी बोले मेरे कंधे पे चढ़ना जो कंधे पे बैठने को गई जो तो कृष्ण अंतर्धान हो गए वो लटकती रह गई डाल को पकड़ दी राधा लटकती रह गई राधा माना धारा संसार के डाल को यदि पकड़ा ईश्वर का आनंद लेने के लिए संसार की डाल को पकड़ा तो तुम संसार में लटकते रह जाओगे ऐसा तो तत्व ज्ञानी लोग हमको भागवत समझा सकते बाकी तो ऊपर ऊपर की कहानी हम सुनते हैं और मान लेते कि भागवत की कथा सांभ राधा ने जब कृष्ण पर सवार करने की विचार किया कृष्ण पर सवार नहीं हो सकती है कृष्ण में मिल सकती है कृष्ण में मिट सकती है लेकिन कृष्ण पर सवार नहीं हो सकती तुम्हारी चेतसा तुम्हारी संबित आनंद में जगत की संबित आनंद में खो जाए तो ठीक है लेकिन आनंद को जब तुम जगत में ले आते हो तो संसार की डाल में लटक जाता है फिर आनंद हो गया हे राधा परेशान होती है कृष्ण चले गए और परेशान होते होते जब एहसास होता है फिर कृष्ण प्रकट होते हैं सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण कहीं गए नहीं कृष्ण ने पीताम्बर और लिया गोपियों के बीच ही थे ऐसे ही अंतर्यामी कृष्ण तुम्हारा गया ही नहीं इंद्रियों के बीच भी उसी की सत्ता है लेकिन पीताम्बर उसने ओढ़ लिया है मैं अरुमोर तो रकी माया मेरे तेरे का जब भाव आता है तो कृष्ण तत्व ने पीताम्बर ओढ़ लिया अब गोपियां बेचारी परेशान है इंद्रिया परेशान है इंद्रिया बोलती है आंखें बोलती है फिल्म देखो तो सुख मिलेगा जीव बोलती है हलवाई की दुकान पे जाओ तो मजा आएगा नाक बोलता है जरा सुगंध लो तो मजा आएगा कान बोलता है जरा कुछ तगड़ दीना दिन सुनो तो मजा आवे शरीर बोलता है जरा टच करो स्पर्श करो आलिंगन करो तो सुख मिलेगा ऐसे करके ये बेचारी गोपियां इंद्रिया भटकती रहती है जब थकती है उबती है और प्रार्थना करती है और अंतर्मुख होती है तब फिर कृष्ण मुलाकात लेते अष्टावक्र महाराज कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्ध अभिमानी मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्ध भवद बद्धो बद्धाभिमान्य किम वदंती यह सत्यम या मति सा भवेत ये लोक उक्ति है मुक्ति का अभिमानी व्यक्ति मुक्त है और बंध का अभिमानी व्यक्ति बंद है संसार में यह लोक उक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति जैसी मति होती है जैसी तुम्हारी संवित होती है जैसा तुम्हारा भाव होता है ऐसा तुम्हें दिखता है इसलिए भावों के बहाव में आज तक हम बहते रहे हैं भावों के प्रभाव में आज तक हम जाते रहे जैसे बाढ़ की सरिता में तिनखे घसीटे जाते हैं और सीधे समुद्र में जा गिरते हैं सड़ते हैं नाश हो जाते हैं कोई कीड़ा बाढ़ की सरिता में बहा जा रहा है किसी दयालु पुरुष को दया आए और कोई लकड़ी पाटिया डंडा कोई सहारा ले देकर उस बाढ़ के कीड़े में बहते हुए कीड़े को थोड़ा सहारा दे और वो कीड़ा चढ़कर आ जाए वट वृक्ष के नीचे शांति पा ले तो धन्य धन्य हो जाता है ऐसे हम कल्पना की बाढ़ में बहे जा रहे हैं तत्व ज्ञान रूपी डंडे के सहारे सदगुरु थोड़ा सा हमको वृत्तियों में से बाहर निकलने के लिए थोड़ा युक्ति दे देते हैं तो हम आत्म रूपी वट वृक्ष के नीचे विश्रांति पाते हैं अधार्मिक व्यक्ति तो अशांत है लेकिन जिसको हम धार्मिक कहते हैं वे भी शांत नहीं है दुर्जन तो दुखी है ही है लेकिन जिनको हम सज्जन कहते हैं वो भी दुखी है कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा अन आरंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय अपमाना देखना क्षय मना नाश होना जिसको आत्मज्ञान को आत्मा को देखने की क्षमता नाश हो गई है उसको अपेक्षाएं होती है ज्ञानी में भी अपेक्षा दिखेगी अज्ञानी में भी दिखेगी लेकिन ज्ञानी में अपेक्षा दिखेगी ऐसी दिखेगी जैसे महाराज मरुभूमि में जल दिख रहा है दस बीस चल रहे तो भी बोले चलो अपने भी ले आओ यार एक मटका उठाओ मरुभूमि में पानी दिख रहा है दस आदमी जा रहे हैं अब दस बीस पचास सौ और ज्ञानी के पास तो हजारों हो जाते जब हजारों मरुभूमि का मटका भरने को जा रहे तो ज्ञानी बोलता चलो हम भी चल रहे हैं जिस प्रकार वो मटका उठाए जा रहे हैं उस प्रकार वो भी उठाए जा रहे हैं जिस प्रकार उसके पैर उठ रहे हैं उस प्रकार उसके भी उठ रहे हैं फिर भी ज्ञानी के पैर उठने में और अज्ञानी के पैर उठने में बाहर से एकता दिखेगी मटके में एकता दिखेगी पानी लेना है और है पानी उस वाक्य में भी एकता दिखेगी अंदर में बड़ा फासला है अंदर में बड़ा अंतर है न क्यों तोय शू બધું હેડ્યું ગયું તોય શું લ્યો वो एवरेडी है और एवरेडी है तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि जब तुम एवरेडी नहीं होते तब तक वो एवरेडी दिखेगा नहीं इसलिए ज्ञानी को मापने का दुस्साहस जब साधक करता है ना तो बेचारा पतन की खाई में चला जाता है और ज्ञानी के कहने में जब अपनी वृत्तियां मिला देता है तो उत्थान होने लगता है सदगुरुओं के कहने में सतगुरुओं के समझ में अपनी समझ जब हम डुबा देते हैं तो हम सत्य के करीब हो जाते हैं और अपनी समझ से जब सतगुरु को तोड़ने लग जाते हैं तो महाराज हम भी संसार की भवाटी में आ जाते हैं इसलिए नानक ने साफ कर दिया मत करो वर्णन मत करो वर्णन हर बेअंत है क्या जाने वो कैसो रे धीरा की गति धीरा जाने तो जो मुक्त है जिसका मुक्त अनुभव है वो मुक्त है और जिसका बंधन का अनुभव है बंधन है और जिसका बीच का अनुभव है वो बीच में है मुक्तों के साथ रहता है तो मुक्ति का अनुभव और मूढ़ों के साथ रहता है तो मूढ़ों का अनुभव बुद्धों के साथ रहता है तो बुद्धपना बढ़ जाता है और बुद्धों के साथ रहता है तो समझता मैं बुद्ध हूं चित्त का ऐसा चमत्कार है कि जैसा उसको संग मिलता है उस प्रकार लगता है कि अपने भी तुम गुरुओं के साथ रहो ना तुमको लगेगा कि गुरुओं के करीब है और जब पापियों के साथ रहते हो तो देखते हो कि हमारे में भी वही लक्षण है भूमि में जैसा तुम बीज बो देते हो पानी वही का वही सूर्य वही का वही हवाएं वही की वही वो खेतर वही का वही एक बारे में तुम एक छोटे से हिस्से में तुम मिर्ची बो देते हो और दूसरे हिस्से में गन्ना बो देते हो थोड़ा मिर्ची और गन्ने के संस्कार के फेर से बड़ा फेर दिखता है तो सारा जगत बस माया मात्र है माया का मतलब बस जैसी कल्पना करो ऐसा हो जाता है विश्व में यदि अमृत की दृढ़ भावना है तो आप अमर हो जाएंगे विष पीकर आप अमर हो सकते हैं यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको इधर आने का दृढ़ संकल्प है कमरे पे सात ताले लगा जाए और पहरेदार हो इर्द गिर्द और आपका मनोमय कोष में अत्यंत दृढ़ता है तो आप इधर होंगे ये केवल कहने को नहीं घटा है कई जगह पर मंगनमल बुहारी ले देने वाला सवा छह फुट का अपना जो मंगनमल है बुधवार की कथा सुन रहा है और उसकी साली गुजर गई थी और तीसरा मनाना था वहां उनको कथा में बैठा और मन से तीव्रता थी कि चालू कथा में साई जो नजीक के लोग होते हैं सेवादारी होते हैं तो उनको स्वाई हिलने नहीं देते तो बैठे बैठे के साई उधर जाना है अब कथा कब बंद होगी साई वनू पगड़े और मनोमय कोष से वो वहां था और अन्नमय कोष से यहां था तो यहां होते हुए भी वहां की महफिल में वो हाजिर रहा और जब यहाँ आठ बजे कथा पूरी हुई तो जाकर कहा पुत्र को कि तू गया था बैसने में पगड़े में गए पुत्र ने कहा मैं तो नहीं आप जाने वाले थे और आप तो गए थे मगनमल बोलता मैं तो साईं के सत्संग में था बुधवार था मैं तो नहीं गया रवि तो इज्जत खराब किया चलो जाते तो गए उनको बोला भाई हम आ नहीं सके जरा माफ करना अभी जिंदा है मंगनमल होगा शायद बढ़ के इर्द गिर्द आया है हाँ। तो गया और जाकर उसको कहा साडू को कि मैं मेरी छोटी साली गुजर गई और मैं नहीं आ सका मैं जरा सत्संग में था माफ करना बोलता आप क्या बोल रहे हैं आपको भांग भांग तो नहीं पिया आज तो आप आ गए थे और आपने हम लोग जब थोड़े उदास थे तो आपने मोटे रह जाने के जो सत्संग के भाव थे वो सत्संग का ऐसा रंग जमा दिया कि हमने माना कि बस आश्चर्य आप गए तो नहीं इधर ही थे मोटेरा तो नहीं गए उन्होंने बोला नहीं मैं अभी मोटेरा से आ रहा हूँ पूछो फलाने से पूछो फलाने से पूछो फलाने से तो मैं अभी वहां से आ रहा हूँ ऐसा लगा कि ये क्या कह रहे हैं दो से तीसरे से पूछा कि भाई अपने थे मामलेदार तू भी था भाई तुम थे गंगाराम तुम भी थे फलाना तुम भी था दो चार से जब पूछा तो उन्होंने कहा अपने तो मोटेरा में थे अब उसको परेशानी हुई कि मैं यहाँ कैसे आया पूछते पूछते दो चार दस से पूछा कि अपने तो साथ में ही थे बुधवार को और यहाँ बैसने में कैसे आए फिर बात पहुंचते पहुंचते यहाँ आई कि साई क्या हुआ बोले बस मैं बुधवार को सत्संग सुना था और बार बार मेरे को था कि बैसने में जाना और सत्संग बापू ने चालू कर दिया अब मेरे को तो प्रणाम करके उठ के जाना था अब चालू सत्संग में उठूं कैसे अब वो क्या होगा वहाँ क्या होगा था तो यहाँ लेकिन वहाँ का चिंतन था और बाबा जी अब मैं जाकर वहाँ पूछा तो वो बोलते यहाँ भी थे अब मैं ये सच्चा कि वहाँ था वो सच्चा विश्वास <laughs> आ जाए वरना ऐसे एक मंगनमल नहीं है कईयों के है अलग अलग ढंग से अनुभव होते हैं तो ये परमात्मा का अंतर्यामी का ऐसा ही चमत्कार है कि जहाँ तुम्हारी श्रद्धा टिकी जहाँ तुम दृढ़ीभूत हुए वहाँ जंगल में भी वो खड़ा हो सकता है ज्ञानी और पर आत्मा और आत्मवेता एक ही वस्तु के रुपयों को के हो पैसा को दो अठन्नी कहो चार चवन्नी कहो एक रुपया कहो वन रुपीज कहो एकड़ो कहो लेकिन वो एक ही चीज के नाम है ऐसे ही ब्रह्मवेता ब्रह्मवित भवती ताकि वाणी वेद हमने नानक को याद किया हमने कबीर को याद किया तो हमारे आगे कबीर खड़े हो जाएंगे नानक को याद किया तो नानक खड़े हो जाएंगे क्योंकि चेतसा उनका आकृति तो चली गई लेकिन ऐसी जगह में उनकी आकृति लीन हुई कि जब चाहे जहां चाहे वहां उनकी आकृति फिर भक्त खड़ी कर लेते हैं तो जगत कैसा है कि तुम्हारी जैसी दृढ़ घनीभूत वृत्ति होती है ऐसा जगत भासता है तो तुम यदि अपने को दीनहीन पापी मानते हो दुखी मानते हो तो जगत की कोई सत्ता या शक्ति नहीं जो तुम्हारा दुख हटाकर दीनता हीनता हटाकर तुम्हें हम्म, मुक्त कर दे तुम यदि मुक्ति के रास्ते चलते हो और दीनता हीनता के विचार हटाते हो तो ऐसा कोई आदमी नहीं जो तुम्हें नरक में डाले ऐसा कोई देवी देवता नहीं कि तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें स्वर्ग में ले जाता है ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है अथवा राक्षस नहीं जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें नरक में ले जाता है तुम्हारा जैसा जैसा भाव होता है जैसी जैसी संबित होती है जैसी जैसी दृढ़ता होती है ऐसा ऐसा तुम्हें रास्ता मिलता जाता है इसलिए मेहरबानी करके कृपा करके अपनी संबित को दीन हीन दुखी परेशान अशांत मत बनाओ तुम अपने भाग्य के आप विधाता की महिमा की अपेक्षा ये तैतीस करोड़ देवता छोटे तुम्हारे आत्मदेव की अपेक्षा बीते हुए जो देवी देवता जो युग पुरुष हैं वो छोटे हैं तुम्हारे इस ईश्वर की अपेक्षा राम कृष्ण भी छोटे चुप अरे तुम जब भाव पैदा करते हो राम के लिए अहोभाव पैदा करते हो तो राम स्वामी हो जाते तुम सेवक हो जाते हो जैसे तुम सपने में जैसा जैसा भाव करते हो ऐसा ऐसा वो बात था एक विद्वान था शास्त्रार्थ में उसे कोई जीत ले तो अपने को ऐसा तर्क ले आता था अंत में विजय उसी की होती थी ओम ओम ओम सपने में देखा कि एक बार प्रतिवादी ने जीत लिया जागा परेशान हुआ गया प्रतिवादी के पास विरोधी के पास जाऊं और उससे पूछूं कि भाई तू आज मेरे को कैसे हरा सका क्योंकि स्वप्न में जिन तर्कों से मैंने उसको हराना चाहा वो तर्क भी मैं जानता हूँ और आखिरी में उसके तर्कों से मैं हार गया वो भी मैं जानता हूँ तो अब मैं जाऊं क्योंकि स्वप्न मैंने देखा है तो उसके तर्क और मेरे तर्क दोनों को मैं जानता हूँ वो नहीं जानता होगा तो जाऊं जाके पूछूं भाई तूने मेरे को कैसे हराया स्वप्न में मैं स्वप्न में भी हार पसंद नहीं करना चाहता हूँ जाने कोई था फिर सोचा कि उसी को भी मैंने पैदा किया और मेरे तर्क भी मैंने पैदा किया रहे उस पर उसके पास जाना भी तो मेरी कमजोरी है मैं ही तो स्वामी हूँ उसके सफल तर्कों का भी मैं दाता हूँ और अपने निष्फल तर्कों का भी मैं दाता हूँ तो वो तो नहीं जानता सफलता निष्फलता सफलता और निष्फलता को जो मैं जानता हूँ तो मैं सफलता और निष्फलता का सर्जक मैं ही आप अपने जीवन में सफलता सर्जते हैं आप ही अपने जीवन में निष्फलता सर्जते हैं एक आदमी केवल एक आदमी नेपोलियन एक ही तो आदमी था इंदिरा भी एक ही तो है जो दृढ़ता आती है और ज्ञानियों के संग में जाती है और ज्ञानियों का गुप्त आशीर्वाद संकल्प हो जाता है तो फिर मनमाना उनका अपना संकल्प सिद्ध हो जाता है ऐसा थोड़े कोई पुरुष थोड़े चाहता है कि हमारे ऊपर स्त्री का राज हो कोई नहीं चाहते हैं लेकिन उसका दृढ़ संकल्प है दूसरों के संकल्प जरा छोटे मोटे हैं કે तो भाग्य वो शराब भाग्य बस तुमने उसका भाग्य बढ़ा दिया अपना कमजोर कर दिया है तो भाई है भाई तो बड़ी कुशल कुशलता कहीं वो कोई फैक्ट्री में से नहीं ले आई कुशलता कहीं उसके बंदियों में छुपी हुई नहीं है जहां तुम्हारा संकल्प दृढ़ होता है और उस संकल्प के अनुरूप वातावरण का सहयोग होता है आशीर्वाद कहो संकल्प कहो तद अनुकूल संकल्प कहो वहां विजय हो जाती है और जहाँ तुम्हारे संकल्प को बिखेरने के वातावरण में तुम होते हो पहले तो तुम अपने संकल्प को तोड़ते हो बिखेरते हो बाद में वातावरण वाला बिखेरते लड़का स्कूल में पढ़ने गया गोड़ी बाप का एक ही लड़का और बाप समझदार था स्कूल में पढ़ने गया घूमता घामता पिताजी भी गया कि बेटा कैसा पढ़ता है नया मास्टर आया था जरा रूप वाला तो लड़के का कान पकड़ा बोला मारता हूं थप्पड़ अच्छी तरह पढ़ लड़के ने क्या करा और मास्टर थप्पड़ मारे उसके पहले लड़के का जो कान पकड़ा थी लड़के ने बोची पकड़ के मास्टर को एक थप्पड़ देना चाह तो मास्टर बोलता क्या करता है क्या करता तो वो लड़के का बाप आ गया बोले महाराज मास्टर एक थप्पड़ खा ले क्योंकि इसका पहला वार है मेरे बच्चे का मनोबल बढ़ जाएगा खा ले ये पढ़ाई हो जाएगी इसकी <laughs> मत रोक मेरे पुत्र का एक पहला ही वार है इसके संकल्प को मत रोक जो माए बाप बच्चों को कहते हैं आकर्ष नहीं आकर्ष नहीं हाउ हाउ से समझो बच्चों के महाकाल है माँ बाप नहीं है उनके काल है बीमाऊ थे ये न कर जाओ ये न कर जाओ दिन ने मार खाई दे ये कहने वो माँ बाप नहीं है वो बच्चे के शत्रु है उन बेचारों को पता ही नहीं कि हम बच्चों के शत्रु होते तो डोना डे जीजा જોયા निर्भय शाबाश शाबाश शाबाश ये आत्मदेव का चमत्कार है जैसा तुम्हारा भाव जैसा तुम्हारा संकल्प ऐसा हो बासता है तो जब बंद का संकल्प करते तो बंद जाते हो नीच का संकल्प करते तो तुम नीच हो जाते हो ऊंच का संकल्प करते तो ऊंच हो जाते हो हिंदू का संकल्प करते तो हिंदू हो जाते हो और मियाँ भाई का संकल्प करते हो तो अल्लाह खबर करके चिल्लाते हो कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए तापर मुल्ला चढ़ी बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा लेकिन मुल्ला को कहो तो ये क्या कहता है बोले हिंदू काफर है तो उसको हिंदू काफर ही दिखेंगे जैसा जिसने संवित में घड़ रखा है जैसा संस्कार जिसने जैसे डाल दिया ऐसा सत्य हो वास्ता है मुक्ति का मतलब क्या है कि पड़े हुए जन्म जन्मांतर के संस्कारों को हटाकर फेंक देना और निसंस्कार तत्व है उसको मैं मानना ये मुक्ति है एक ही क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी बना देती हो मुक्ति ब्रह्मा होकर तुम सृष्टि करते हो विष्णु होकर पालन करते हो शिव होकर संहार करते हो फिर भी तुम्हें कोई आंच नहीं आती ऐसा तुम्हारा स्वरूप है मानते नहीं सेठ बन जाए अरे करोड़ों करोड़ों सेठ तुम्हारे पेट में है ऐसे तुम बड़े हो पता नहीं ही थी वजह हो थी वजह कुछ बनने की इच्छा मत कर पहले अपने को ठीक से जान ले फिर पता चलेगा कि मैंने ही सब बनाया है संसार तो जल्दी है मेरी सब अंदर बाहर मैं ही हूँ हजार हजार कथाकार और भागवताकार रामायणाकार हजार हजार कारें और मोटरें हजारों हजारों देवी देवता सब ज्ञानी के संकल्प मात्र में ज्ञानी को जब शरीर में माना थाप खा गए घटाकाश को खाली घड़े में माना तो तुम क्या जानते हो आकाश को हाँ, घटाकाश को जब आकाश तत्व तो में देखोगे तो हो अनंत अनंत समुद्र भी उस घटाकाश के पेट में हम जब ज्ञानी को शरीर में मानते साढ़े पांच फुट में मानते हैं हम उनको देहधारी मानेंगे तो हम देह से परे, परे कैसे जाएंगे हम यदि उनको कर्म करता मानते तो हम कर्मों से परे कैसे जाएंगे हम यदि उनको लोभी लालची मानते तो हम लोभ लालच से नहीं जाएंगे बाहर तुमको ज्ञानी में जो दिखता है वो तुम्हारे में छुपा हुआ है तुमको जगत में जो दिखता है वो तुम्हारे में छुपा हुआ है <clears throat> वसुदेव वसुदेव कृष्ण को पुत्र रूप में देख रहे हैं पुत्र का मुंह छुपा है गोपियां कांत भाव से देख रहे हैं उनमें कांत छुपा है योगियों में कृष्ण योगेश्वर है योगियों में योग छुपा है तो योगेश्वर दिख रहे हैं और चाणुक मुष्टक में मौत छुपा हुआ तो कृष्ण काल जैसे दिख रहे हैं कृष्ण तो वही के वही है वही केवल माना कृष्ण कुछ नहीं है जैसी जिसकी भावना है ऐसे तभी तो आशा रामायण वाले ने लिखा साधक उठे बिखरे थे केसा राग द्वेष ना किंचित लेसा सरल लोगों ने साधु जाना हत्यारों ने काल ही माना भैरव देख दुष्ट घबराए पहलवान जू मल्ल ही पाए कामि आशिक माना साधु जन कि एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर गुरुवर चले स की की को सहज गए वेची सशस्त्रों की भीड़ को साज गए तो जो इन संकल्पों के खेल को जानता है जो ये सारे दुनिया के बीज को जानता है और जिस अवस्था में जहाँ भी होता है वो समझता है किसी ने उसको अच्छा कर दिया वो समझता ठीक है किसी ने बुरा कर दिया समझता कि तारी दृष्टि में है वरसोड़ा में एक प्रभु जी नाम के फकीर हो गए ओ प्रभु जी साबरमती में नहा के सुबह तीन बजे कॉफी नीचो के चढ़ा देते थे गांव में जाते कोई लोटा ले आता कोई कटोरी ले आता कोई गिलास ले आता दूध का पटेल की बस्ती थी और लोगों की भी थी तो बच्चे बच्चे घर से दूध ले आते थे बीस साल पहले की बात है जब दूध बोघेड़ों में बिकता था अब तो दूध बोतल में आ गया तो वारा भरने जाए तो मां से ले आए लोटा ओ महाराज चढ़ा ले ऐसे लंबे चौड़े विराट रूप बच्चे फिर आते हैं और बाबा जी ऐसे हाथ पे पंजा बना के खड़े हो जाते दो एक दो चार बच्चे इधर लटक जाते दो चार इधर लटक जाते एक दो इधर एक दो इधर और फिर बाबा जी घूमते गोल चक्र डालते उनका क्या नाम कोई प्रभु जी बोलते हैं कोई तगड़म बोलते हैं कोई ढेखाड़ा बोलते हैं कोई बाबा कहते हैं कोई मुफतिया कहते सारा दिन ऐसे ही मजाक में विनोद में जीवन मुक्त महापुरुष उसको क्या करना लेना देना लालजी महाराज की माँ उनको पहचान गई वो उनको आलिंगन करते थे वो उनका हाथ पकड़ के चूमती थी लालजी महाराज सेवा करते थे माँ ने बताया कि महापुरुष है तो लालजी महाराज के घर वो कभी कभी रहते थे લાલજી મહારાજ ને પૂછા કે બાપજી આ લોકો તમને આવું બોલે છે આવું બોલે છે તમે કોણ છો કે તું અડે ને અબડાઈ જાય એવો છું લે आखिर आप कौन जाति के हैं आप कौन है परमहंस है कबीर पंथी है गोरखनाथ के नवनाथ पंथी हैं शंकर के मत के हैं आप कौन सी जाति के हैं ब्राह्मण हैं कि हमारी जाति के पटेल जाति के हैं कौन सी जाति के हैं आप बंगाल के हैं कहाँ के हैं बाबा जी आप कि वो तो जहाँ का मान ले वहां का પણ આપણે નાતે કોણ છો કે તું અડે અભડાઈ જાય એ નાતે છું અને વાતે સાચી છે એ બ્રહ્મને તમે જો અડો અજાણે પણ અડો ને તો અભડાઈ જાઓ લ્યો अनजाने में भी तुम्हारा एक मिनट के लिए मन उस यार में पहुंच जाए तो महाराज तुम बेदाम बिक गए उसके चरणों में वो यार ऐसा आनंद स्वरूप है एक झलक जो पाता है राही वही रुक जाता है देख के तेरा रूप सलोना चांद भी खुद शर्माता है वो लोग बोले हार्ड मास को बोले लेकिन समझदार बोल रहे हैं यार हे प्रभु तेरा एक एक झलक तेरी देखकर चांद की रोशनी भी क्या है सूरज की रोशनी भी क्या है जगत का सुख भी क्या है एक झलक केवल एक मिनट के लिए गहरा ध्यान लग जाए एक मिनट के लिए उस यार की झलक आ जाए चांद भी शर्माता है सितारे भी शर्माते हैं जहां भी शर्माता है जहां वाले भी शर्माते सब ठीक के हो जाते हैं सत शिष्य को सदगुरु के ध्यान का एक मिनट केवल मिल जाए जहाँ सदगुरु को पहुंचा है वहाँ एक मिनट यदि सत शिष्य को हजम हो जाए फिर उसको माया गिरा नहीं सकती दुनिया के सुख सब आ जाए सब भोग लेगा फिर भी वो उसका गुलाम नहीं होगा लट्टू नहीं होगा तुम एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हो जाओ ठीक है एक मिनट के लिए सचमुच ईमानदारी से तुम प्राइम मिनिस्टर हो जाओ फिर तुमको आगरीवाड़े का सरपंच बनाने के लिए हम इनवाइट करे तो आओगे तुम एक मिनट के लिए ईमानदारी से प्राइम मिनिस्टर बन जाओ फिर रिजाइन कर दो फिर तुम्हें बुलाया जाए कि चलो वागरी वाड़े के सरपंच बन जाओ गलबा वागरी की जगह भरो अमथा की भरो सेंधा या शकरिया की भरो आ भी जाओगे लेकिन तुम्हारे आते हुए दिखोगे उनके बीच दिखोगे फिर भी आप वहां नहीं है प्राइम मिनिस्टर होने की तुमने एक बार एक मिनट के लिए योग्यता पा ली तो फिर अब तुम नीचे के पोस्ट पे टिक नहीं सकते कलेक्टर पटावाला का काम थोड़ी देर कर ले लेकिन फिर भी वो पटावाला नहीं है ऐसे ही तो जिसको भगवान की गुरु की कृपा हुई जिसको भीतर का एक बार स्वाद आ गया फिर वो संसारियों जैसा खाए पिए चले लेकिन वो वहां नहीं है ऊपर ऊपर से सब करेगा भीतर से वहीं जाने को करेगा मन ओम ओम मुक्त अनुभव करो आनंद स्वरूप अनुभव करो प्रेम स्वरूप अनुभव करो तुम्हारे अंदर परमात्मा का खजाना है और महापुरुषों के आशीर्वाद बरस रहे हैं फिर दीनहीन क्यों होना संसार के विषयों के लिए तुच्छ टुकड़ों के लिए क्या गुलामी करना दूसरों की खुशामत क्या करना आप ही शहनशाह होकर मैं तो बस फेरे फिरूंगा साथ सात क्या फेरे फेरे तो इसके तेरी जिस पर नजर पड़ जाए चाहे मनुष्य हो चाहे वट वृक्ष हो उस पर लोग हजारों हजारों फेरे फेरेंगे तो ऐसा आत्मदेव है साई मेरी शादी हो जाए सात फेरे फेर लू आराम से रहूं अरे जा गधा <laughs> सात फेरे फिरने के बाद आराम है अरे तू जिस पर प्रेम की निगाह से देख ले उसके साथ साथ कुल आराम में हो जाते हैं तू तो ऐसा आत्मा है लेकिन मरा पड़ा मोह के वहां दीनता को त्याग न अपना स्वरूप देख यहाँ कथा नहीं है कथा सुनने तो और जगह जाओ यहाँ तो तुम्हारे जीवन को शहनशाह बनाने की फैक्ट्री है